मैदान में सन्नाटा छा गया था हवा रुक सी गई थी जैसा तेज तूफान के पहले की खामोशी ही सूरज की तीखी किरणें धूल भरे मैदान पर पड़ रही थी और दूर खड़े पेड़ों की पत्तियां हल्के से काँप रही थी भीड़ में सांस थमी थी हर नज़र चैतन्य और प्रखर पर टिकी थी हवा में तनाव इतना ज़्यादा था कि चाकू से काटा जा सकता था तेजेंद्र ने अपने बेटे की ओर देखा चैतन्य की सांसों में उस छुपी हुई ऊर्जा को महसूस कर कर उसका दिल हिलसा गया था यह कोई साधारण शक्ति नहीं थी वह कुछ और ही था कुछ प्राचीन और भयावह उनकी आंखें गर्व से चमकी लेकिन चेहरा गंभीर था उन्होंने गहरी सांस ली और जोर से बोले इस लड़ाई को मेरा बेटा मेरी ओर से लड़ेगा उनकी आवाज़ मैदान में गूंजी जैसे कोई सिर दहाड़ रहा अगर वह हार गया तो कुलपिता का पद तुम्हारे भाई का होगा और हाँ वो हजार साल पुराने आत्मा घास भी तुम्हें वापस मिल जाएगी भीड़ में खुसर फुसर होने लगी चैतन्य ने अपने पिता की ओर देखा तेजेंद्र की मुस्कान गर्मजोशी थी जैसे शरद रात में जलती आलाव की गर्मी थी चैतन्य का दिल भारी हो गया लेकिन उस मुस्कान ने उसे हिम्मत दी ठीक है मुझे आने दो प्रखर भीड़ से निकला और मैदान के बीच कूद गया उसका चेहरा घमन से चमक रहा था और आंखों में तिरस्कार की आग थी तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो उसने चैतन्य को सिर से पांव तक देखा जैसे वो कोई तुच्छ कीड़ा हो तुम बस गोलियां बनाते हो और मेरे सामने खड़े हो उसकी हंसी में कुर्ता थी पांचवें स्तर तक पहुंचने की वजह से प्रखर हवा में उड़ रहा था उसने चैतन्य की हकीमी को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था राठौर परिवार के कुछ बुजुर्ग मन ही मन सिर हिलाए वे जानते थे कि एक हकीमी की ताकत सिर्फ दवाइयों तक सीमित नहीं होती ज़मीन पर बैठा राविक जिसके चेहरे पर चोट के निशान साफ दिख रहे थे हल्के से हंसा उसकी आवाज़ में व्यंग था <laughs> युवाओं का जोश देखने लायक होता है लेकिन क्या हो अगर इस लड़ाई में कोई एक मारा गया तो उसने जानबूझकर अपने बात को लटकाया और उसकी आंखों में एक चालाकी भरी चमक थी राठौर परिवार का नया हकीम मर गया तो मुझे तो बुजुर्ग लोग ही मार डालेंगे तेजेंद्र बोला चुप रहो उनकी आंखें गंभीर थी जैसे वह किसी गहरे समुंदर में डूबे हों राविक ने फिर मुस्कुराते हुए कहा अगर तुम अपने हकीम बेटे को युद्ध में भेजना चाहते हो और कोई हादसा हो गया तो सब यही कहेंगे कि उसके हुनर अधूरे थे चिंता मत करो चैतन्य ने शांत लेकिन पत्थर से मजबूत आवाज में कहा अगर मैं घायल हो गया या मर गया तो ये मेरी जिम्मेदारी होगी उसकी आंखों में न डर था न हिचा बस एक अटल विश्वास भीड़ में सन्नाटा छा गया चैतन्य की बातें सुनकर राविक के चेहरे पर विजय की मुस्कान तैर गई सबने सुना वह चिल्लाया उसने खुद कहा है पहले मेरे बेटे से लड़ लो अगर तुम प्रखर को हरा दो तो मेरे भाई से लड़ने का हक तुम्हें मिल जाएगा रविक मन ही मन खुश था उसे यकीन था कि चैतन्य भले ही प्रखर को हरा दे लेकिन उसके सातवें स्तर के भाई को हराना नामुमकिन था वरना सिर्फ मुखिया बनने का सपना देख रहा था बल्कि रक्त आत्माघात से वापस पाने की उम्मीद में था प्रखर ने अपने पिता की ओर देखा फिर चैतन्य की तरफ तिरछी नज़र डाली अगर मेरी लापरवाही से तुम्हें चोट लग गई तो मुझे मत दोष देना उसने तिरस्कार भरे लहजे में कहा तुझे किसने कहा अपनी औकात से ऊपर उड़ने को चैतन्य ने बिना कोई भाव दिखाए राविक की ओर देखा अगर मैं जीत गया तो मैं अपने पिता की जगह लड़ सकता हूँ ठीक है ना <laughs> रावी की हंस मैदान में गूंजी जैसे कोई भूत हंस रहा है <laughs> लेकिन पहले जीत तो लो रावित के समर्थक भी हंसने लगे मैदान में मजाक का माहौल बन गया कुछ लोग चैतन्य की ओर देखकर सिर हिला रहे थे जैसे कह रहे हैं उस लड़के ने पागलपन कर दिया है प्रखर ने युद्ध कला के रिवाज के मुताबिक अपनी मुट्ठी बांधी लेकिन उसकी आंखों में कुरता थी मैं नरमी नहीं बरतूंगा उसने कहा और उसकी मुस्कान में जहर था शुरू करो तेजेंद्र की गहरी आवाज़ मैदान में गूंजी जैसे कोई पहाड़ खड़ा हो गया बस यही इशारा था प्रखर ने एक जोरदार छलांग लगाई उसकी चाल इतनी तेज और सुंदर थी जैसे कोई बाज हवा में उड़ रहा हो उसके हाथ आसमान की ओर उठे और हवा में तेज झोंके चले उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी चमकने लगी जो पलक झपकते ही एक विशाल सुनहरी कुल्हाड़ी में बदल गई कुल्हाड़ी इतनी तेज थी कि हवा को चीर रही थी और उसकी चमक से आंखें चौंधी आ रही थी कि यह तो सूर्य कुल्हाड़ी पढ़ा रहा है भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया राठौर परिवार की सबसे उच्च श्रेणी की युद्ध कला यह तो किसी की शक्ति को जानलेवा हथियार में बदल देती है सबकी सांसें थम गई प्रखर की कुल्हाड़ी हवा में लपटों की तरह चमक रही थी और वह चैतन्य की ओर तेजी से बढ़ रहा था भीड़ को लगा कि यह लड़ाई कुछ पलों में ही खत्म हो जाएगी चैतन्य वहीं खड़ा था बिल्कुल शांत उसकी आंखें सुनहरी कुल्हाड़ी को ही घूर रही थी जैसे वह कोई असाधारण चीज़ हो भीड़ को लगा कि वह डर गया है कुल्हाड़ी अब उसके सिर के ठीक ऊपर थी बस कुछ ही पल में उसे चीरने वाली थी तभी चैतन्य के भीतर एक भयंकर ऊर्जा उमड़ी उसने मुंह खोला और एक ऐसी दहाड़ लगाई कि मैदान काप उठा यह कोई साधारण आवाज़ नहीं थी यह एक प्राचीन अजगर की दहाड़ थी हवा में नीली ऊर्जा की लहर उमड़ी जो बिजली की तरह चमक रही थी यह ऊर्जा एक विशाल नीले अजगर में बदल गई जिसके सूर्य सूरज की रोशनी में चमक रहे थे उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और उसका मुंह खुला था जैसे वो प्रखर को निगल लेना चाहता हो भीड़ सन्न रह गई ये क्या है एक बुजुर्ग इंसान कांपती आवाज में कहा ऐसी शक्ति तो मैंने पहले कभी नहीं देखी चैतन्य के नीले अजगर की दहाड़ ने प्रखर के सूर्य कुल्हाड़ी प्रहार को पल में चकनाचूर कर दिया सुनहरी कुल्हाड़ी कांच की तरह टूट कर बिखर गई और नीली ऊर्जा का तूफान प्रखर पर टूट पड़ा हवा में बिजली और आंधी का तूफान उठा जो चाकू की तरह प्रखर पर वार कर रहा था प्रखर की चीखें हवा में गूंजी और उसका शरीर खून से लथपथ हो गया वह हवा में उछल कर पीछे गिरा जैसे कोई पतंग टूटकर जमीन पर आ गिरी हो वह नीला अजगर युद्ध कला थी एक तो ऐसी शक्ति जो दिल और आत्मा को झकझोर देती थी चैतन्य की दहाड़ अभी भी हवा में गूंज रही थी और मैदान में धूल का गुबार उठ रहा था कोई पलके भी नहीं छपका सका चैतन्य ने एक और कदम उठाया और उसका शरीर गरुड़ की तरह हवा में उड़ा पलक झपकाते ही वह प्रखर के सामने था जो अभी भी सदमे में था उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थी और उसका चेहरा पीला पड़ गया था चैतन्य की उंगलियां फैली और उसकी बाहों से नीला आवाज चमक उठा यह एक गरुड़ के पंजे जैसा था मजबूत खतरनाक और भयावह नीली अजगर ऊर्जा उसमें से उमड़ पड़ी और हवा में सल्क की चमक दिखाई दी उसने बिजली की तेजी से प्रखर का सिर पकड़ा और उसे जकड़ लिया उसका पंजा खुला और नीला सल्क चमक उठे जैसे कोई प्राचीन राक्षस जाग उठा हो नहीं प्रखर के चीख हवा में गूंजी नीले अजगर के पंजे से तेज जानलेवा आवा फूटी और प्रखर का शरीर हिलने लगा उसने दर्द में चीखा और खून की उल्टी करते हुए पीछे गया उसका चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ गया था और उसकी आंखें डर से थरथरा रही थी यह नीला अजगर खंजा था नीला अजगर युद्ध कला की सबसे खतरनाक तकनीक हवा में बिजली की कड़क और आंधी का शोर गूंज रहा था मैदान की धूल हवा में उड़ रही थी और भीड़ शून्य थी धड़ाम प्रखर जमीन पर गिर पड़ा उसका शरीर खून से लथपथ था भीड़ में सन्नाटा छा गया सबके चेहरों पर खौफ था उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह सोलह साल का चैतन्य जिसके पास कई आध्यात्मिक सिराएं भी नहीं उसने प्रखर को पल में हरा दिया था राबिक ने अपने बेटे को घायल देखा उसका चेहरा गुस्से से और डर से लाल पड़ गया वह खून की उल्टी करने से खुद को रोक नहीं पाया उसने देखा कि प्रखर अविश्वास ले रहा है चैतन्य ने अपनी ताकत को काबू में रखा प्रखर को गंभीर चोट नहीं आई थी राविक ने तेजेंद्र की ओर देखा उसकी आंखों में शुक्रगुजारी थी तेजेंद्र ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया मेरा बेटा जानता है कब रुकना है इसमें उसके अधूरे हुनर को ही दोष देना होगा चैतन्य ने तिरस्कार भरे लहजे से कहा उसकी आंखें शांत थी लेकिन उसमें एक चमक थी जैसे कोई तूफान अभी और बाकी हो अब मैं अपने पिता की जगह लड़ सकता हूँ है ना तेजेंद्र ने अपने बेटे को देखा उनकी आंखें गर्व से चमक रही थी भीड़ में खामोशी थी लेकिन हवा में एक नया तूफान उठने की उमड़ थी मैदान के बीच में खड़ा चैतन्य अब किसी साधारण लड़के की तरह नहीं था बल्कि एक प्राचीन अजगर की तरह लग रहा था जिसकी शक्तियाँ अभी पूरी तरह से जागी भी नहीं है